अपने दुश्चरिताद बाध स्वा मा सुचरिते भज उदायुषा सुवायुषोदस्थाम् अमृताम् सम्मान्य विद्वदगण धर्म प्रेमी सज्जनों अपने जीवन का निर्माण और फिर समाज को उन्नत करना आगे राष्ट्र विश्व को उन्नत करने की बात सोचना व्यवहार का भाग है एक विद्या पठन पाठन का भाग है एक उपासना की रीति है इन तीनों क्षेत्रों में व्यक्ति को अत्यंत निपुण बनना पड़ता है इन तीनों में निपुण न होने देने के कारण अनेक हैं परंतु एक कारण ये देखा जाता है कि व्यक्ति की मान्यता प्राय ये रहती है कि शारीरिक पुरुषार्थ करने में दुख है और शारीरिक पुरुषार्थ न करने में सुख है ये उसकी मान्यता बनी रहती है बौद्धिक परिश्रम करने में दुख है और बौद्धिक परिश्रम न करने में सुख है ईश्वर की उपासना करने में दुख है और ईश्वर की उपासना करने में ईश्वर की उपासना न करने में सुख है ईश्वर की उपासना करने में दुख है असावधान रहना सतत निरीक्षण परीक्षण न करने में बड़ा सुख है अत्यंत सावधान रहना शरीर मन इंद्रियों को सतत नियंत्रण में करने में बड़ा दुख है और इनको ढीला छोड़ देने में बड़ा सुख है परस्पर मिलके रहने में बड़ा कष्ट है दुख है और तनाव पैदा करके रहने में बड़ा आराम है सुख है अनुशासन में रहना बड़ा दुखदायी है और अनुशासन से बाहर रहना बड़ा सुखप्रद है वस्तुओं का उचित सदुपयोग करना बड़ा कष्टदायक है दुखदायी है और दुरुपयोग करते रहना सुखप्रद है ये धाराएं ये मान्यताएं व्यक्ति की बनी हुई हैं तो उसका न व्यवहार ठीक होगा न विद्या ठीक होगी न उपासना ठीक होगी स्थिति ये रहे अब आप ये खोज करके देखें गवेषणा करें तो ये धाराएं किसी में कम किसी में अधिक आप में समय विद्यमान है या नहीं है आत्मनिरीक्षण कर लो क्या क्या बताई शारीरिक एक शारीरिक पुरुषार्थ करने में इन चीजों में व्यक्ति दुख मानता है तथा व्यवहार में अत्यंत सावधान रहना और अत्यंत परीक्षण निरीक्षण करना अपना उसमें व्यक्ति दुख मानता है फिर बताया कि परस्पर मिल के रहने में व्यक्ति दुख मानता है अनुशासन में रहने में दुख मानता है वस्तुओं का उचित उपयोग सदुपयोग में दुख मानता है और इसके विपरीत शारीरिक बौद्धिक और मानसिक और उपासना आदि में पुरुषार्थ करना आ, उसमें दुख मानता है या क्या उसमें दुख मानता है और न करने में सुख मानता है हाँ जी क्या क्या याद होगा कुछ आया याद है या कुछ है? क्या क्या है पहला तो आपने बताया व्यक्ति शारीरिक परिश्रम करने में दुख मानता है और शारीरिक परिश्रम न करने में सुख मानता है व्यक्ति बौद्धिक परिश्रम करने में पढ़न पाठन में दुख मानता है न पढ़ने पढ़ाने में सुख मानता है और ईश्वर की उपासना करने में दुख मानता है ईश्वर की उपासना न करने में सुख मानता है और सतत परीक्षण सतत सावधान रहना मन इंद्रिया और बुद्धि को नियंत्रण में रखने में दुख मानता है और शरीर मन को खुला छोड़ने में सुख मानता है और परस्पर मिलकर रहने परस्पर मिलकर रहने में संगठित रूप में वो, वो दुख मानता है और तनाव करके रहना द्वेष विघटन करते रहने में वो सुख मानता है और अनुशासन में रहना तो- अनुशासन में रहने रहने में वो दुख मानता है अनुशासन भंग करने में वो सुख मानता है और वस्तुओं के वस्तुओं के सदुपयोग करने में दुख मानता है और दुरुपयोग करने में सुख मानता है और कुछ आ गया बहुत कुछ ये ब्रह्मचारी पानी की बाल्टी रख के आए एक थी इनके दिमाग में असावधानी थी कि बाल्टी पानी की रख देने से क्या प्रयोजन पूरा हो गया है असावधानी थी तो वो ही रख के आ गई तो क्या हुआ वो दूसरी बाल्टी रखी ही नहीं अब सावधानी क्या है कि जो हम काम करते हैं वहां पर पूर्वापर को देखता है व्यक्ति क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए तो वो काम उसको पूरा करेगा और ये अच्छा इनके इनका प्रभाव मुझ पर क्या पड़ेगा ये व्यक्ति बेतुके व्यक्ति है बेसुरे हैं इनको कोई हुआ नहीं है अब मान लो अकेली बाल्टी हो तो उसमें पानी गर्म मिलाने में असुविधा होनी है यद्यपि काम उससे भी चल जाता है ये नहीं क्या हम उसके बिना नुकसान नहीं कर सकते पर दूसरी बाल्टी हो तो पानी मिलाने में सुविधा हो जाती है बाल्टी हमारे पास है यदि ना हो तो एक से काम चलाओ डिब्बे में डालते जाओ आधा घर में लो आधा उसमें कोई ये नहीं कि हम उसमें दुख का अनुभव करेंगे नलके से आधा पानी लो कुछ कुछ बाल्टी से ले लो दोनों मिला लिया रहो ऐसे ना तो क्या समझे आप व्यवहार में जो व्यक्ति क्या करता है असावधानियां हमें आत्मदेव जी ये कल मच्छरदानी लगा दी कल मैंने इसे तेल दिलवाया कान में कल की बात छोड़े कल का तो खैर सांगल परसों की बात है अच्छा ये उसी काम को छोटे से काम को कभी मच्छरदानी लगाई कभी पूछा ही नहीं मच्छरदानी लगानी या नहीं लगानी कभी पानी गर्म किया कभी किया ही नहीं कभी लंगो टंगोछा धोके सुखाया कभी सुखाया ही नहीं दोपहर तक पड़ा रहा अब भलाओ ऐसा दिमाग जिस व्यक्ति का हो वो क्या उन्नति करेगा सिखाने वाला व्यक्ति भी ये सोचेगा इसके साथ क्यों खाम का समय खोया जा रहा है कोई अच्छे व्यक्ति को सिखा दो इतना समय खो इतना दिमाग वो ऐसे ही चलता है कोई प्रवाह नहीं है उसको और कठिनाई है वो ये मानता है कि मैं भूल कुछ नहीं कर रहा हूं कठिनाई ये है मैं भूल कुछ नहीं कर रहा हूं प्रत्येक व्यवहार का प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है और अपने संबंधी गुरु जी हो मित्र हो उन पर पड़ता है ईश्वर पर पड़ता है सभी के ऊपर पड़ता है दो तो एडी से चोटी तक का व्यवहार नीचे से लेके भूमि से लेके इसलिए कहा गया ईश्वर तक का व्यवहार उस व्यक्ति को आना चाहिए तब वो सफल हो जाएगा हम छोटी से छोटी वस्तु को लेते हैं एक वस्त्र है वो कुछ फट गया फट रहा तो फटा पड़ा है बड़ा रहेगा वो भाई कम से कम एक सुई धागा लेते हैं हम वो फटे होकर टाका लगा देते हैं और देर तक चलता है और वो फटा है तो फटा है ठीक है फेंक दिया वैसे ही उसको वो काम दे सकता था कितनी ऐसी वस्तुएं होती हैं वो आ, हमारे काम में आती हैं उनका उपयोग होता है और फिर ये व्यक्ति क्या करता है उसको कुछ को प्रयोग में ले आता है कुछ को फेंक देता है कुछ को खराब होने देता है कुछ को टूटने फूटने देता है अब ये ये नहीं मानता कि इन वस्तुओं के इस रूप में प्रयोग करने से मेरा दिमाग खराब होगा और बात छोड़ो पैसे रुपए की हानि तो कम है उसको दुरुपयोग करने का जो है एक व्यवहार है अर्थात संस्कार बन जाएंगे किसी वस्तु के दुरुपयोग करने के संस्कार बनेंगे और उस संस्कार का परिणाम वो उल्टे कर्म करने में प्रवृत्त होता होता फिर छोटे छोटे व्यवहारों में उल्टा करता हुआ फिर चोरी डाके पे चला जाएगा परिणाम यह निकलेगा ये बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को ठीक प्रयोग में लाता कैसे उसका प्रयोग करना चाहिए कैसे नहीं ये देखता तो ये अपने व्यवहार को ठीक करता जाता है उचित प्रयोग करता जाता है और इसकी मोटी मोटी जो उल्टी आदत अभ्यास है वो छूट जाता है फिर ये सूक्ष्म उल्टी चीजों को पकड़ता है मानसिक मानसिक जो बातें होती ना मानसिक दोष मानसिक दोषों को पकड़ने में समर्थ हो जाता है बाहर के दोष पकड़ में आते हैं तो फिर मानसिक दोष पकड़ में आते हैं अब बाहर के दोषों को जो व्यक्ति नहीं पकड़ता वो मानसिक दोषों को नहीं पकड़ सकता अब आप देखेंगे बौद्धिक स्तर पर बौद्धिक स्तर पर आपको यहाँ कितना सावधान रहना चाहिए और कितनी चीजें पढ़नी चाहिए जैसे कि उदाहरण के रूप में ले लो आपको संस्कृत भाषा अच्छे प्रकार से पढ़नी पढ़ानी बोलनी लिखनी आनी चाहिए ये बौद्धिक परिश्रम है और आप जो संस्कृत भाषा आपको अच्छे प्रकार बोलनी आ जाए अच्छे प्रकार से पढ़नी और पढ़ानी भी आ जाए अच्छे प्रकार से लिखनी आ जाए ये बौद्धिक परिश्रम है इसके इस परिश्रम में आप कष्ट समझते हैं दुख समझते हैं इसके करने में और न करने में आपको आनंद आता है अच्छा लगता है परिश्रम न करना ठीक है ये बौद्धिक श्रम है अब जैसे आपसे कोई पूछे या पढ़े कि दशलकारों के रूप चलाओ किसी एक धातु में प्रश्न पथ पर चलाओ और किसी एक धातु को आत्मने पद के रूप चलाओ दस लकारों में तो मुझे पता नहीं आप में से एक भी इसको चलाने सुनाने वाला है या नहीं है कोई एक आत्मनि पद धातु के दस लकारों रूप सुना दे कोई और एक प्रश्नी पद के कोई सुनाने वाला हो तो बताओ दस लकारों पांच में भी सुना दे तो भी पांच वाले तो मिल भी सकते हैं और पांच वाले भी दोनों में मिलना कठिन है भू धातु के भवती भवत है भवत है भवताम भविष्य पांच ऐसे सुना देगा अब फिर जब आत्म पद पर चलाएंगे ना शेव धातु के चलाएंगे तो वहां फिर पांच भी नहीं चला पाएगा वो अब आपको पता चल गया आप आराम करने में बौद्धिक स्तर पर चल रहा है हमारा बौद्धिक स्तर पर आराम करने में आपको आनंद आता है और परिश्रम करने में आप कष्ट का अनुभव करते इसलिए ये आपने तैयारी नहीं अब इसे कितनी हानि होगी ये आप इसको जान सकेंगे तो फिर पता चलेगा कितनी हानि होती है ना वेद को समझ सकेंगे ना दर्शन को अच्छी तरह समझ सकेंगे ना व्याख्या कर सकेंगे वेद मंत्र की और कहीं संस्कृत बोलनी पड़ेगी वहां संस्कृत बोल नहीं सकेंगे आप पढ़ा भी नहीं सकेंगे और अच्छी तरह संतोषजनक पढ़ भी नहीं सकेंगे आपके विद्वान प्रश्न पूछेंगे जो उत्तर नहीं आएगा तो आपको बड़ा दुख होगा कि इन्होंने ये मुझे पूछा था इस लकार में इस धातु के क्या रूप बनेंगे मैं नहीं बता पाया उस दिन बड़ा कष्ट होगा उस दिन याद आएगा कि जो वो परिश्रम कर लेते तो अच्छा रहता कुछ आया समझ में बौद्धिक स्तर पर परिश्रम से आप बचना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप भाई कम से कम व्यक्ति एक धातु के प्रश्मी पद में एक धातु के आत्मे पद में दस लकारों उसके रूप उसको याद रहें जब भी कोई वाक्य बनाना होगा उनका एकदम प्रयोग होगा दस लकारों तो दस लकार आपको याद है तो बोलने में पढ़ाने में लिखने में और वही दस लकार जब वेद मंत्र का विचार करेंगे व्याख्या करेंगे झट समझ में आएगा ये इस लकार का रूप है वेद मंत्र में वेद मंत्र में प्राय लकारों के रूप होते हैं तो जब होते हैं तो दस समझ में आएगा ये इस लकार का रूप है और ये फिर व्याख्या करने में सुविधा होगी निस्संदेह हो गया कि हाँ इसका ये इस धातु का यही अर्थ है तो क्या क्या करेंगे आप दस लकारों के रूप कम से कम परसमयी पद एक धातु में लिखना बोलना और पढ़ के उसको लगा लेना और दूसरी बात ये जो शब्द रूपावली होती है शब्द रूपावली तो मूल में आप देखेंगे उसमें या तो अजंत शब्द होते हैं या हलंत शब्द होते हैं मोटे से दो विभाग बन गए क्या समझ में आया दो विभाग बन गए क्या क्या अजंत, और हलंत, अजंत का मतलब क्या है हैं? अच का मतलब क्या है अच प्रत्याहार है हाँ। अलंत का क्या मतलब है हाँ तो कोई रूप चलाएंगे आप या तो अजंत है एक बात या वह हलंत है तो आपने देखा कि हलंतों के रूप कैसे चलते हैं तो हलंत का पता चला लेगा वो तो हलंत के रूप चलाने आगे तो लगभग कहीं कहीं छोड़ के हलंत के रूप आ गए तो प्राय हलंत के एक जैसे चलते रहते हैं कहीं कहीं परिवर्तन होता है एक बार ये हलंत है ये अजंत है ये पता लगाएगा वो तो शब्दों के क्षेत्र में अंत वाले का पता चल गया फिर वो क्या पता लगाएगा ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है लिंगों का पता लगाएगा वो क्योंकि तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न रूप रहते हैं लगभग ये स्त्रीलिंग में है ये पुल्लिंग है ये नपुंसक है ये लिंग का पता लगाया फिर वो वचनों का पता लगाएगा प्रथम पुरुष पुरुषों का पता लगाएगा वचनों का पता लगाएगा अच्छा, इत, इस, इतना दिमाग जब उसका काम करने लगेगा तब वो संस्कृत को समझता है वो बोलता है वो पढ़ता है वो व्याख्या करता है क्या समझ में आया साधक जी शाब्दिक परिश्रम करने में जो असावधानी बरतते हैं उसमें संस्कृत भाषा का दृष्टान दिया कि हम्म। दसों लकार में धातु के रूप याद करने में कष्टवान करता है इसी प्रकार से संस्कृत भाषा का और अध्ययन करने में सहयोगी बातें बताई लकारों के अतिरिक्त शब्द रूप हलंत फिर उसमें लिंग तीनों प्रकार के और वचन तीनों प्रकार के आप जो यहाँ रहते हैं अब बताने वाले आपके अध्यापकाचार्य रहते हैं सुमेर प्रसाद जी पढ़ाने पढ़ाने में लगे आप ये पूछना ही नहीं कैसे बनेगा वो चाहता है पूछने में परिश्रम करना पड़ेगा पूछने में लिखना पड़ेगा इतना लिखना पड़ेगा इतना ये करना पड़ेगा इतना वो करना पड़ेगा उसके मन में ये दिमाग उसका काम नहीं कर रहा कि इतना मुझे यदि आएगा ये चीजें मुझे आएंगी तो मेरी कितनी उन्नति होगी और मैं दूसरे लोगों को कितना उन्नत कर सकूंगा ये उसका दिमाग काम नहीं करता बस उस पर परिश्रम नहीं करना है बड़ा दुख होता है रूप याद करने में हम जो परिश्रम करते थे गुरुकुल में आप तो उससे नाम मात्र का परिश्रम करते हो आप आपको जो सुविधा मिलती है वही सुविधा नाम की चीज प्राय होती होगी कहीं कौने में हमारे पास में नहीं होती तो आप जैसा व्यक्ति यदि वहां रहने लग जाए तो एक दिन रहना आप में से कोई रह सकेगा मुझे पता नहीं आप में से एक दिन भी कोई रह सकता हो ऐसी स्थिति रही है आठ नौ वर्ष तक कम से कम रही होगी और फिर भी हम जो पढ़ते थे सुनते थे पाठ के काल को छोड़ के पाठ के काल को पूरे दिन भर संस्कृत में बोलते थे और फिर पूछा जाता था हाथ खड़ा करो तो प्राय मुझे जहां तक याद है प्राय है मैं उसमें सफल रहता था कि मैंने संस्कृत में ही बोला है अध्यापक जो पढ़ाता है उस काल को छोड़ के अब आप ये बोलने लगेंगे तो अशुद्ध बोलेंगे पहले तो बोलेंगे ही नहीं आप सोचेंगे संस्कृत बोलने में बड़ा बल लगता है इसे छुटकारा मिल जाए तो अच्छा है और हम ये सोचते थे जितना संस्कृत बोलेंगे उतना ही उन्नत हो जाएंगे हम हम ये सोचते थे तो किसी शब्द का लिंग नहीं आया तो अध्यापकों से पूछते थे इसका कौन सा लिंग है ये नपुंसक में है या स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में है अच्छा इसको क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं वो पूछते रहते थे प्रयत्न करते रहते अब जब कभी कल्पना करें एकदम कोई कह देवे कि आप संस्कृत में प्रवचन दो कल्पना करो तो आप दे लोगे क्या यद्यपि सूक्ष्म अशुद्धि होना एक अलग चीज है यदि हमको कोई कहे कि आपके जो विषय हैं उसमें संस्कृत में प्रवचन दो तो मैं तत्काल उसमें प्रवचन दो आप क्यों नहीं कर पाते आप परिश्रम ही नहीं किया आपने ना करते हैं आगे आप परिश्रम बैठे अपने मजे में बोलते थे तो हम ये देखते थे कि मैंने जो वाक्य बोला है वो अशुद्ध तो नहीं हो गया किसी ने कह दिया हो पुस्तक आने है पुस्तक ले आओ ये अर्थ है या नहीं क्या है पुस्तक आने है इसने ऐसा कह दिया तो क्या अशुद्धि हो गई अपदम न हाँ क्यों जी है हाँ आप कभी ध्यान देते हैं जो संस्कृत बोलते हैं तो ऐसी अशुद्धि बोलते हो आप प्राय कभी कभी ध्यान देते होंगे कोई ऐसा नहीं कि बोलने के पीछे ही ध्यान देना कि अशुद्ध निकल गया है दोबारा इसको ठीक कर लो इसका अपने लिए मूल्य है कितना फिर समाज के लिए वो व्यक्ति कितना उपयोगी होता है दूसरों को जो वो विद्या पढ़ाता है उसके ऊपर लेख लिखता है उसके उसी के आधार पर वो दर्शनों की पंक्ति लगाता है उसी के आधार पर वो वेद मंत्रों की व्याख्या करता है अच्छा आप मुझे जो एक वेद मंत्र को लेकर व्याख्या करने वाले कौन कौन है आप मुझे बताओ वेद मंत्र की जो अच्छी तरह व्याख्या करें आधा पौन घंटा है कोई है क्यों जी है हैं कर लोगे कौन से वेद मंत्र की करोगे हाँ और उस वेद मंत्र की व्याख्या को सुन करके लोग ये अनुभव करेंगे बहुत अच्छा प्रवचन किया बहुत <laughs> बहुत अच्छा व्याख्यान दिया ऐसा अनुभव करेंगे लोग अब और आपने पांच दर्शन जैसे पढ़े बौद्धिक परिश्रम में दुख उसने ये दर्शन पढ़े अपने ढंग से अब दूसरे लेखकों व्याख्याकारों ने इन एक एक दर्शन पर क्या टीका की है उसको मिला के देखना इसमें क्या न्यूनता है इसमें क्या मिलता है दूसरे विपक्ष के दर्शनों को भी उसी योग दर्शन पर जो एक अन्य जो टीकाएं हैं वो योग दर्शन पर उसने अनेक टीकाएं पढ़ी व्याख्याएं पढ़ी तब तो उसकी योग्यता बहुत अच्छी बन जाएगी नहीं तो उसकी योग्यता विशेष नहीं बनती अब प्रत्येक दर्शन के ऊपर क्या समझ में आया है हाँ प्रत्येक दर्शन के ऊपर में अनेक टीकाएं पढ़ने से अगर क्षमता पहले अपना पढ़ लिया पहले अपना अच्छी तरह पढ़ लिया फिर विपक्षी को दूसरे पक्ष वालों की टीकाएं व्याख्याएं उसके साथ पढ़ के देखी उसने उसे जो दिमाग बनता है उसमें क्या मान्यता है हमारी नहीं मिल रही है उसमें क्या न्यूनता उसमें क्या लिखा है तो उसकी योग्यता अच्छी बन जाएगी नहीं तो नहीं बनेगी नहीं नहीं उसने सोचा मैंने पढ़ लिया सो पढ़ लिया बस हो गया ठीक है इतने पे संतोष है उसको देखेंगे अपने व्यवहार में अपनी रक्षा में शारीरिक सावधानी एक बौद्धिक सावधानी दो आज संसार की स्थिति जो चल रही है वर्तमान में वहां कोई भी व्यक्ति कहीं भी सुरक्षित नहीं है और कोई व्यक्ति लापरवाही बिल्कुल प्रमाद के आधार पर सो गए जैसे सो गए कोई दरवाजा बंद किया नहीं किया कोई बात नहीं कौन हमको छेड़ता है कौन हमारे लिए तो कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा ही नहीं जो हमारे से बैर भाव रखता हो हमको कौन क्या कहता है वो शारीरिक भी और बौद्धिक भी ये प्रमाद के कारण व्यक्ति ऐसा रहेगा तो हानि उठाएगा उसको ये पता नहीं है कि आज की जो वर्तमान की स्थिति है विश्व में इतनी भयंकर गदर मचा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी कहीं भी मार सकता है राजा महाराजाओं को भी नहीं छोड़ते साधारण व्यक्ति की तो बात क्या है और आप आलस्य प्रमाद से न साधन रखते न सावधान रहते परिणाम उल्टे हो जाएंगे वो कभी भी हो सकते कोई निश्चित तिथि नहीं होती इसकी ना हो ये अलग विषय है पर तत्काल ये कोई न कोई परिणाम ऐसे हो जाते हैं उसकी असावधानी के कारण आपको ये पता है लोकसभा पर जो आक्रमण हुआ अब इतना बड़ा आक्रमण है असाधारण आक्रमण है अब वहां सब कुछ है अब ये क्यों हुआ ये आलस्य प्रमाद से हुआ है नहीं लोकसभा आक्रमण कैसे हो जाएगा ऊपर से हो जाए विमान से हो जाए ये तो अलग बात है नीचे से कारें जाएं या जीप जाएं वो आक्रमण करें अंदर जाकर के इतनी मूर्खता की बात है या नहीं मूर्खता की बात क्या समझ में आया नहीं आया समझ है जी अब एक पहरेदारों का यहां है प्रबंध एक दूसरे का दूसरे अनेक जगह वहां उनके वो हैं निरीक्षण परीक्षण लोकसभा में जाने वाले के लिए रोकने के लिए अब वो एक के एक को पार कर दिया दो को पार कर दिया किसी ने थोड़ा बहुत पकड़ लिया आगे चल करके वो कुछ बचाव हो गया नहीं तो और पता नहीं क्या होता ये सब आलस्य प्रमाद के कारण से ये सब चलता है बाहर के आक्रमण से सावधान रहना एक भाग है और अंदर जो अविद्या काम क्रोध लोभ मोह के आंतरिक आक्रमण है उनसे सावधान रहना दूसरा भी भाग है चंद्र के आक्रमण इतनी तीव्रता से चलते हैं विद्युत की भांति पूरे दिन भर अविद्या का आक्रमण रहता है और अविद्या का आक्रमण जहां रहता है वहां काम क्रोध लो मोह तत् उससे उत्पन्न सब आक्रमणकारी विद्यमान रहते हैं और पूरे दिन भर रहते हैं अब ये व्यक्ति आलसी प्रमादी पुरुषार्थ से बचने वाला उस अविद्या नाम की चीज को नहीं पकड़ सकता अविद्या नाम की चीज को नहीं रोक सकता फिर उससे उत्पन्न काम करो तो लोभ मोह को ये नहीं रोक सकता तो ये बच कैसे सकता है नहीं बच सकता आप कुछ सुन किया उसको न करना ये सावधान रहने वाले के काम है जो व्यक्ति सावधान है वो देखता है कि ये जीवन क्षण भर का जीवन है ये जीवन इसमें जो कुछ करना हो सो कर लो ये बुद्धिमान अच्छे व्यक्ति का विचार है और ये जीवन इतना लंबा है आगे चल के ये हो जाएगा आगे चल के इसको पढ़ लेंगे आगे चल के योगाभ्यास कर लेंगे आगे चल के मन को रोक लेंगे आगे चल के ये स्थिति आ जाएगी ये ऐसे सोचता रहता है हो जाएगा आगे चल के हो जाएगा ये उल्टे लोगों का काम है उल्टा दिमाग जिनका यदि आप लाभ उठा सकते हैं तो इन सारी बातों को समझना मनन करना फिर इनके अनुरूप अपना आचरण बनाना प्रतिकूल आचरण न करना तो सब हो सकता है यदि ऐसा नहीं किया तो जो आप समझते हैं जो आप मानते हैं कि हम योगी बन जाएंगे हम ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंच जाएंगे हम फिर समाज को कुछ देने देंगे राष्ट्र के लिए बहुत उन्नति करेंगे फिर विश्व को भी कुछ देने देंगे ये बातें नहीं हो पाएंगी अब विराम परिमाग्ने दुश्चरिताद्बाधस्वा मा सुचरिते भज उदायुषा सुवायुषोदस्थाम् अमृतां मनो सम्मान्य विद्वद्गण धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं आज आपके अध्ययन के संबंध में कुछ पूछना है इस ओर से चलेंगे आपका अध्ययन कितना क्या कुछ हुआ है पर मैंने पांच दर्शन और उपनिषदों का अध्ययन कर लिया हम्म। तो आपकी ऐसी स्थिति योग्यता कुछ हुई जिससे आप उन पांचों दर्शनों को पढ़ा सके या कितने को पढ़ा सकते क्या कुछ रहा मैं पांचों को पढ़ा सकने की योग्यता हूँ ऐसा मेरा हाँ जी आपका कितना अध्ययन हुआ मेरा भी पांचों दर्शन और उपनिषद ये पूरे हो गए हैं स्वामी हम्म। इनका अध्ययन पूरा हो गया है हम्म। पांच दर्शन का और उपनिषदों का हम्म। तो आपका क्या अनुभव है इनके पांचों के संस्कृत भाष्य सहित पढ़ाने की स्थिति कैसी है ऐसा विचार है स्वामी जी कि मैं पढ़ा सकता हूँ हाँ जी आपका क्या कुछ हो चुका है पहले संस्कृत पढ़ चुके हैं और अभी योग दर्शन का दूसरा पाठ चल रहा है दूसरा पाठ और वो व्यास भाष्य सहित थे दूसरा चल रहा है कितने दिन हो गए आपको आए हुए दस महीना और पंद्रह दिन अच्छा तो संस्कृत भाषा आपने कितनी पढ़ी पहले कितनी पढ़ी थी यहाँ कितनी पढ़ी पहले कुछ नहीं पढ़ा यहाँ कितनी पढ़ी यहाँ वो जो रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक है हम्म, हम्म। उसका प्रथम भाग तो पढ़ा है विधिवत रूप से और हाँ। दूसरा भाग स्वयं अभी सुमेरु जी पढ़ा रहे हैं दूसरा पाठ दूसरा भाग या संस्कृत संस्कृत अलग से पढ़ा रहे हैं सुमेरु जी और जी आपका मेरा भी योग दर्शन का दूसरा पाठ चल रहा है कितने दिन हो गए आपको आए हुए लगभग एक वर्ष तो पहले आपने संस्कृत भाषा पढ़ी थी बहुत थोड़ी सी पढ़ी अब यहाँ आके कितनी पढ़ी प्रथम भाग पूरा और द्वितीय भाग कुछ आपका क्या अध्ययन हुआ हमारा ही संस्कृत का विभक्ति रूप कर रहे हैं हम हम्म। और धार्मिक ग्रंथों का धार्मिक ग्रंथ स्वाध्याय सत्यार्थ प्रकाश का कर रहा हूँ आपने ये सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाषी में का कुछ पढ़े हैं या नहीं पढ़े आपने पढ़े हैं हाँ। हाँ जी अब आपका अध्ययन सुनाएंगे आप स्वामी जी रचनानुवाद कौमुदी के माध्यम से इसके दो भाग पढ़ा हूँ हाँ तीसरा भाग कुछ अपूर्ण इस प्रकार से पढ़ा हूँ संस्कृत और, दूसरे योग दर्शन व्यास भाष्य सहित अभी चल रहा है कौन सा पाद है दूसरा पाद चल रहा है और ये सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेदादि भाषा भूमिका जी वो पढ़े नहीं है स्वयं हम्म। स्वयं पढ़ता हूँ और जी आपका सुनाएंगे पांच दर्शन अध्ययन समाप्त हो चुका है उपनिषद भी हो चुके हैं उपनिषद जी हो चुके हैं तो आपकी वो स्थिति योग्यता कैसी दिखती है पढ़ाने की हाँ, चार दर्शन पढ़ा सकता हूँ कौन से को छोड़ के वेदांत को छोड़ के अच्छा और एक वेदादि भाष्य में उनका सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथ स्वाध्याय रूप में अध्ययन किया अच्छा तो आपको कितने दिन हो गए लगभग सवा तीन वर्ष हो गए सवा आपको चार वर्ष हो गए स्वामी आपको लगभग चार वर्ष चार आपका अध्ययन क्या है मैंने पहले संस्कृत में ए किया है अच्छा और यहाँ करके अभी सुमेरु जी से संस्कृत पढ़ रहे हैं हम्म, हम्म। और योग दर्शन का प्रथम पाद पूर्ण करके द्वितीय पाद का अध्ययन चल रहा है और सत्या प्रकाश का स्वयं अध्ययन कर रहा हूँ और ऋग्वेद आदिभाष भूमिका का एक बार पूर्णतया अध्ययन कर चुका हूँ आपका क्या कुछ हो गया योग दर्शन का दूसरा पाठ चल रहा है योग दर्शन का आपको कितने दिन हो गए चौदह महीने लगभग और संस्कृत भाषा पहले कितनी पढ़ी थी और अब कितनी पहले तो नहीं पढ़ी यहाँ पर रचनानुवाद जी का पहला और दूसरा भाग पढ़ लिया सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेदादि भूमि का पढ़ा है दोनों को पढ़ा है अपने आप आपका क्या चल रहा है संस्कृत का प्रारंभिक विभक्ति रूप चल रहा है ऊंचा बोला करो संस्कृत का विभक्ति रूप एक एक अक्षर शब्द को जब बताया जाता है तो उसको बोलना भी सीखो आपको जो बात बताई जाती है वहीं खड़ी रहेंगी तो आप तो उन्नति तो कर नहीं सकते जो बात सिखाई गई बताई गई उसका व्यवहार में कुछ रूप नहीं हुई सुनी सुनाई बेकार कर देते हो हाँ जी आप कब सुनाइए व्याकरण महाभाष्य पढ़ चुके हैं और योग दर्शन का दूसरा पाठ चल रहा है और न्याय दर्शन में भी बैठते हैं कौन न्याय दर्शन के पाठ में भी बैठते हैं कौन आवाज सुनाई नहीं देता क्या कह न्याय दर्शन के पाठ में भी बैठते हैं हाँ ये बोलो साफ साफ वो वैसे ही उसको वैसे ही खा जाते अक्षरों को पता ही नहीं चलता उसको सुनने वाले को तीन बार वो सुनाना पड़ता है या भाव मात्र सुनेगा वो बात नहीं सुनाई देती हाँ जी आपका क्या चल रहा है मैं इस समय न्याय दर्शन पढ़ रहा हूँ स्वामी जी वत्सन भाष्य सहित वत्सन भाष्य सहित और पहले आपने जो पढ़ा था वो पूरा योग दर्शन का दास भाष्य सहित पढ़ा था व्यास भाष्य सहित तीन पाद तक पढ़ा था तीसरे पाद में कुछ सूत्र पढ़े थे अच्छा आपका कितना हुआ है संस्कृत की प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पढ़ चुका हूँ हाँ। और द्वितीय में थोड़ा पढ़ा है हाँ। और योग दर्शन में प्रथम पाद समाप्त हो चुका है अध्ययन हो चुका है और द्वितीय पाद चल रहा है हम्म। अच्छा अब जैसे आप अपना दर्शनों को दोहराते हैं या अन्य टीकाओं को देखते हैं या क्या तैयारी करते हैं भाई इनको पक्का किया जाता है एक अथवा और कोई क्या कुछ है या अगली योजना क्या है अभी न्याय दर्शन की कक्षा पुनः चल रही है तो उसमें बैठता हूँ और दूसरे कुछ दर्शन की अन्य टीकाओं का स्वाध्याय करता हूँ आपका क्या चलता आगे के लिए न्याय दर्शन का पुनः अध्ययन कर नाम स्वामी जी बैठ कक्षा चलती है हाँ, हाँ। उसमें बैठता हूँ हाँ। और योग दर्शन का अध्यापन करता हूँ अच्छा और आपको कोई पढ़ाता भी है सत्यार्थ प्रकाश या ऋग्वेदादि भाषा में उनका या अपने आप ही पढ़ लेते हो हम्म? तो जब प्रारंभ आप बोलोगे सत्या प्रकाश में तीन समोल्लास पढ़ा पढ़ाते हैं और दूसरा तो किस किसने पढ़ाए संदीप जी ने अच्छा और जी आपने पढ़े हैं या पढ़ाया है किसी ने आपको पहले पढ़ चुके हैं कई बार किसी से पढ़े या स्वयं पढ़े पढ़े हैं आचार्य बलदेव जी से पढ़े अच्छा अच्छा अच्छा तो भूमिका पढ़ी थी आपने या वैसे समोल्लास से चल पड़े थे भूमिका पढ़ी अच्छा। और आपने भूमिका पढ़ी थी अपने आप या किसी से अपने आप पढ़े आपने अपने आप पढ़िए स्वामी जी भूमिका और सत्यार प्रकाश भी भूमिका भी पढ़ी आपने पढ़ा कभी हाँ दूसरे से पढ़ा या स्वयं भूमिका तो संदीप जी से पढ़ी है अच्छा आप यहाँ तो स्वयं पढ़ी है भूमिका अपने आप और कहीं जहाँ पहले था वहाँ गुरु जी से पढ़ा था पूरा सत्यार प्रकाश या भूमिका नहीं दो तीन समूला अच्छा उनसे कौन से गुरु जी से वो एक बिहार में गुरु जी हैं है? क्या नाम है उनका डॉक्टर प्रमोद अच्छा अच्छा ये ब्रह्म विद्यालय में अच्छा और आपने स्वयं पढ़ा है या जी मैंने स्वाध्याय के रूप में पढ़ा है आपने किसी से पढ़ा है भूमिका तो स्वयं ही पढ़ी थी और सात आठ और नौ समुदास दयानिधि जी से पढ़े थे अच्छा अच्छा और आपने पहले स्वयं अध्ययन किए थे और अभी भूमिका पढ़ी है संदीप जी से आपने कितना किससे पढ़ा था स्वयं ही पढ़ा सत्या पढ़ा था तो कभी भूमिका में जो संकेत दिए हैं वो आपसे पूछे आप बोलो वो लिखा ने आकांक्षा योग्यता सती तात्पर्य उनका क्या अर्थ करोगे आप पता है कुछ थोड़ा थोड़ा तो अपने आप समझता हूँ बाकी पूर्ण रूप से हाँ जी आप समझते हो हैं अपने आप तो समझता हूँ पर समझा नहीं सकता अभी इतनी योग्यता नहीं समझ तो लेते हो मतलब क्या समझते हो उससे जैसे ही आकांक्षा का क्या अर्थ है जो आता हो बताते जाओ क्या बात है ऐसे देख लेता हूँ मैं अपने आप संगति लगा लेता हूँ परंतु वो क्या संगति लगाते हो आकांक्षा का अर्थ क्या करते हो नहीं पता शाब्दिक रूप में नहीं पता आपने पढ़ा कुछ आकांक्षा योग्यता आसक्ति तात्पर्य कभी इनको मतलब पढ़ा पढ़ाया कुछ बेचारा हो जी पहले एक बार किया था अच्छा कुछ समझ लिया था उस समय हाँ समझ लिया आपका क्या रहा आपका मैंने तो कुछ पढ़ा कुछ समझ में आया आकांक्षा योग्यता आसक्ति तात्पर्य कुछ कुछ समझ में किसी ने समझाया था अच्छा और जी आपका स्वयं पढ़ा था कुछ समझ में आया आकांक्षा योग्यता से तात्पर्य क्या है समझ में आया आपने पहले भूमिका संदीप जी से पढ़ चुका हूँ लेकिन आवृत्ति न करने से अभी नहीं पढ़ा सकता हाँ जी आपका सुनाओ सत्या प्रकाश की भूमिका में जो चार बातें हैं समझ में आ गई या नहीं आई समझ में आ गई अच्छा सुना सकते हो अभी सुनाने में अभी इतना समर्थ है तो समझा सकते हैं ध्यान में नहीं आ रहा ध्यान में नहीं है आपको याद है